फिर विक्रांत ने पूछा तो क्या कुल मंजू का मर्डर दो लोगों ने मिलकर किया हाँ साजिद ने जवाब दिया फिर तुरंत लाल बत्ती जल उठी विक्रांत ने थोड़ा अजीब लगा फिर उसने पूछा क्या मंजू का मर्डर तीन लोगों ने मिलकर किया हाँ लाल बत्ती जल उठी चार लोगों ने मारकर मारा था मंजू को हाँ लाल बत्ती जल उठी पांच लोगों ने मिलकर मारा था हाँ फिर से लाल लाइट जल उठी विक्रांत बिल्कुल हैरान रह गया वो सोच में पड़ गया कितने लोगों की गैंगरो होगी एक लेडी ऑफिसर को मारने के लिए कितने लोग आए थे मंजू के मर्डर में छह लोग शामिल थे विक्रांत ने फिर से सवाल किया हाँ फिर से साजिद के जवाब के साथ लाल लाइट जल उठी विक्रांत ने अपना सिर पकड़ लिया उसने सवाल किया क्या मंजू को दस से ज्यादा लोगों ने मिलकर मारा था हाँ अब तक लाइट डिटेक्टर मशीन का टाइम आउट हो चुका था और इस जवाब पर बिना कोई रिएक्शन दिए ही विक्रांत के दिमाग में जल रही लाल और हरी लाइट गायब हो चुकी थी विक्रांत ने अपना हाथ जोर से टेबल पर पटक दिया शिट शिट शिट यार विक्रांत ने गुस्से में आकर टेबल पर जोर से लात भी मार दी क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना हाँ हम्म, विक्रांत ने जवाब दिया और फिर वो उठकर खड़ा हो गया पता चल गया मुझे मुझे मेरे सवाल का जवाब पता है इतना कहते हुए विक्रांत वहां से उठकर गेट की तरफ बढ़ चला क्या जवाब क्या पता लग गया तुम्हें नैना ने अपने सवाल के साथ उसे रोकने की कोशिश की उसे लगा कि अभी तो इंटेरोगेशन शुरू ही हुआ था और इतनी जल्दी खत्म भी हो गया और इसने तो बस कुछ कैजुअल से सवाल ही पूछे लेकिन विक्रांत बिना कुछ जवाब दिए ही कमरे से बाहर निकल गया नैना भी बेबस होकर उसके पीछे पीछे जाने लगी क्या पता चल गया क्या पता चल गया विक्रांत बताओगे रुको नैना ने तेजी से अपना कदम बढ़ाते हुए विक्रांत को रोक लिया नैना तुम जानती हो ना ऐसे ही मैंने नितेश को भी इंटेरोगेट किया था और उस टाइम भी मैंने बहुत सारे क्लू इकट्ठा कर लिए थे इस बार भी यही हुआ मुझे अब काफी कुछ पता चल चुका है क्या पता चल चुका है तुम्हें बताओगे बताओगे अब क्या साजिद को सही में इस मर्डर केस में फंसाया जा रहा है बोलो विक्रांत मिस्टीरियस सी हंसी हंसने लगा है ए विक्रांत मैं ये फालतू का ड्रामा बंद करो तुमने अभी साजिद से सिर्फ नॉर्मल सवाल ही पूछे उससे तुम्हें क्या लगा ये बताओ मुझे विक्रांत ने फिर से हल्की हंसी के साथ कहा क्या लगा मुझे नैना मैं सच कहूँ तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी क्या गलती बातों को गोल गोल घुमाना बंद करो और जो है साफ साफ बोलो नैना ने विक्रांत को थोड़ी सख्त नजरों से देखते हुए कहा पता है नैना मुझे साजिद को इंटेरोगेट करने आए पहले तुम्हें तो इंटेरोगेट करना था नैना सन रहेगी उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि आगे क्या जवाब दे कुछ पल शांत रहने के बाद नैना ने पूछा मतलब क्या मतलब है तुम्हारा मैं समझी नहीं मतलब मतलब मैं समझाता हूँ तुम्हें विक्रांत ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था लेकिन तुम खैर छोड़ो सीधी सी बात यह है नैना कि मैं यहाँ पर साजिद को इंटेरोगेट करने इसलिए आया था क्योंकि मुझे लगता था कि उसका उन्नीस के किडनैपिंग केस से कुछ कनेक्शन है मैं वही सब पता करने के लिए आया हुआ था लेकिन तुम तुम यहाँ क्यों आई तुम्हारा क्या मकसद था ओ नैना विक्रांत की बातों का मतलब समझ चुकी थी इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया उसने विक्रांत को ही बोलने का सारा मौका दिया देखो नैना हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं लेकिन तुमने ऐसी हरकत क्यों की तुम्हारे मन में जो था मुझे पहले ही बता देती क्या पता मैं फिर साजिद को और अच्छे से इंटेरोगेट कर पाता विक्रांत अपने कदम बढ़ाते हुए नैना के और करीब जाकर खड़ा हो गया नैना तुम मुझे जानती हो तुम्हें मेरी एबिलिटी का भी पता है तो फिर अब ऐसे चोरी छुपे एक दूसरे को स्टॉक क्यों करना है और अब तुम यहाँ मेरे ब्रांच पर आ चुकी हो मैं यहाँ तुम्हारी काफी मदद भी कर सकता हूँ नैना अभी चुपचाप खड़ी होकर विक्रांत की सारी बातें सुन रही थी उसके चेहरे पर हल्की धूप पड़ रही थी जिससे नैना की खूबसूरती और ज्यादा निखर कर सामने आ रही थी देखो नैना हम दोनों गोल्डन कपल लगते हैं देखो ना हमारी जोड़ी कितनी अच्छी है अब क्या छुपाना यार जो भी बात है वो सच सच बोल दो विक्रांत ने कहा गोल्डन कपल सच सच सुनना चाहते हो तुम नैना ने कहा हाँ नैना हाँ जो सच है वो दिल खोल के बोल दो विक्रांत नैना के आगे अपनी बाहें फैलाकर फिल्मी हीरो की तरह खड़ा हो गया सच ये है कि तुम पहले अपने टकले पर हाथ फिराओ नैना ने विक्रांत के सिर की तरफ इशारा करते हुए कहा विक्रांत ने जैसे सिर पर हाथ फिराया उसे कुछ गीला गीला सा लगा फिर उसने अपनी नजरें उठाकर ऊपर की तरफ देखा तो वहां पर हवा में कुछ कौवे उड़ रहे थे जेल के बाहर आने के बाद इस वक्त विक्रांत नैना के साथ उसकी व्हाइट कलर की पजेरों में बैठा हुआ था विक्रांत के गाड़ी में बैठते ही नैना ने उसकी पूरी तलाशी ली उसका शक था कि कहीं विक्रांत कोई ऐसी चीज ना लेकर बैठा हो जिससे उसे कोई नुकसान पहुंचे सीरियसली नैना तुम तुम मेरी तलाशी ले रहे हो हम दोनों पुलिस ऑफिसर्स हैं यार और अब अब तो एक ही ब्रांच के ऑफिसर हैं इतना भी ट्रस्ट नहीं है क्या विक्रांत ने कहा बिल्कुल नहीं खास तौर पर तुम पर तो और भी नहीं नैना ने जवाब दिया और फिर वो विक्रांत के कपड़ों को खंगालने लगी नैना हम नॉर्मल पुलिस वाले हैं कोई सीक्रेट एजेंट नहीं है कमाल है यार विक्रांत कुछ भी कहे लेकिन जब नैना को पूरी तसली होगी तब उसने तलाशी लेना बंद की हम्म अब पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं तुमसे कुछ छुपा रही हूँ नैना ने विक्रांत से सवाल किया ओ ये पता लगाना कौन सी बड़ी बात थी अब थोड़ी देर पहले ही जब मैं साजिद को इंटेरोगेट कर रहा था तब तुमने ये शक जताया था कि मंजू के मर्डर में एक से अधिक लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं और उस वक्त तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ पता लग रहा था कि तुम्हारे मन में कुछ चल रहा है तुम कुछ छुपा रही हो अच्छा नैरा ने हैरत भरी नजरों से देखते हुए कहा और उससे भी पहले मुझे शक हो गया था आज तुम ही डीएन नगर ब्रांच पर आई हो आज ही तुम्हारी ज्वाइनिंग हुई है और तुरंत ही तुम साजिद को इंटरोगेट करने चली आई ये मुझे बहुत स्ट्रेंज लगा था ऐसा कैसे हो सकता है जरूर कुछ न कुछ बैक स्टोरी है विक्रांत ने कहा नैना विक्रांत के आईक्यू लेवल से पहले ही काफी प्रभावित थी और आज फिर विक्रांत ने साबित कर दिया कि उसका माइंड काफी शार्प है नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा देखो विक्रांत एक बात अच्छे से समझ लो मैं तुम्हें एज ए पर्सन बिल्कुल पसंद नहीं करती जी करता तुम्हें गोली मार दू लेकिन तुम्हारे टैलेंट की बहुत कदर करती हूँ ये भी मैं साफ साफ कहना चाहती हूँ नैना की इस बात ने विक्रांत को मंजू की याद दिला दी मरने के एक दिन पहले ही मंजू ने विक्रांत से ये बात बोली थी ठीक है नैना ने बिल्कुल सीरियस होते हुए कहा सुनो विक्रांत मैं तुम्हें कुछ समझ कर ही ये अब बताने जा रही हूँ और तुम किसी भी हालत में ये सब बातें बाहर मत आने देना वरना वरना हम बहुत मुश्किल में फंस सकते हैं कैसी मुश्किल विक्रांत ने क्यूरियस होते हुए पूछा मतलब जो मंजू मैडम के साथ हुआ वो हमारे साथ भी हो सकता है क्या ऐसा है क्या फिर फिर रहने दो मत बताओ मुझे नहीं जानना विक्रांत कुछ पल के लिए सोच में पड़ गया ये किडनैपिंग केस सॉल्व करने के बाद मुझे काफी पैसे मिलने वाले मैं वो पैसे गंवाना नहीं चाहता तुम तुम रहने दो मत बताओ मुझे बाद बाद में बताना मुझे अब तुम बकवास बंद करो तुमने पूछा है तो तुम्हें अब सुनना पड़ेगा नैना ने विक्रांत का कॉलर पकड़कर खुद की तरफ खींचते हुए कहा मुझे यहाँ पर हायर अथॉरिटी द्वारा मंजू के मर्डर केस को सॉल्व करने की सीक्रेट मिशन पर भेजा गया और हाँ अब मंजू यहाँ काम कर रही थी अब वो भी एक सीक्रेट मिशन पर काम कर रही थी सो हायर अथॉरिटी को यह शक है कि मंजू का मर्डर उसी केस के चलते हुआ है समझे मिस्टर विक्रांत नैना ने अब विक्रांत का कॉलर छोड़ दिया अब तुम समझे तुम्हारा शक गलत था मंजू के मर्डर का उन्नीस के किडनेपिंग केस से कोई लेना देना नहीं है ऑलरेडी मंजू जिस केस पर काम कर रही थी वो उस किडनैपिंग केस से भी बड़ा और खतरनाक केस है नहीं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता तुम तुम मुझे अब अब कुछ मत बताओ मुझे नहीं सुनना है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा उसने अपने कानों में उंगली भी डाली नैना ने अपनी कोहनी से विक्रांत के गर्दन दबाते हुए कहा अब जब तुम्हें मुझ पर शक हो ही गया है तो तुम्हें पूरी बात सुननी पड़ेगी विक्रांत अब हमें साव, बहुत सावधानी से काम करना है हमेशा अलर्ट रहना है किसी को जरा सा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम सीक्रेट मिशन पर काम कर रहे हैं मैं तुम्हें एक अलग से फोन भी दूंगी हम नॉर्मल ऑफिस के फोन पर एक मिनट एक मिनट विक्रांत को कुछ समझ में आया कहीं ऐसा तो नहीं कि मंजू मैडम के मर्डर के पीछे हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के भी किसी का हाथ था